मुसनफ़ आलमा ने लफ्ज़ हमद का जिक्र किया शराह करते हुए आए उसके तहत जो के तहत हमद की तारीफ और शिक्र की तारीफ फिर इनके दरमियान फ़र्क और नस्बत को बयान किया उसके बाद में अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि ये लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का आलम है इसमें ज़ाती है फिर हमद को मुकदम क्यों किया अलहमद को मुकदम क्यों किया जबकि अल्लाह ताला का नाम मुकदम होना चाहिए था तो ये चंद बहसें आई फिर अलामा अनामा के अंदर माँ को मस्तरिया क्यों माना वो सब चीज़ें यहाँ पर गुजर चुकी हैं अब आगे वालमा मिनल बयान वालमा मिनल बयानी मालम नालम मैंने बताया था तलखीस के अंदर भी कि वालमा मालम नालम मिनल बयान ये होना चाहिए क्योंकि मिनल बयान ये है बयान किसका मालम नालम के अंदर जो माँ है उसका वो है मुबैन और ये है बयान ठीक है मुबैन जिसका बयान हो और बयान बयान और मुबैन पहले होता है बयान बाद में माँ इसका बयान है ना मिनल बयान अल बयान इसका बयान है मिन बयानिया है तो ये मालम नालम मिनल बयानी इस तरह होना चाहिए था मालम नालम मिनल बयानी क्योंकि मुबैन और बयान में से मुबैन पहले होता है और बयान बाद में होता है ठीक है तो मुबैन पहले होता है और बयान बाद में होता है लेकिन ज्ञान के कहने चाह रहे इसी के दूसरा नाम होगा बयान आपको तो बयान यहाँ पर इसको मुकदम क्यों किया फरमाया कि इसको मुकदम क्या है सजा की रियायत की वजह से ताकि सजा की रियायत हो जाए सजा कहते हैं कलाम नसर के अंदर वज़न का एक जैसा हो जाना यहाँ ऊपर आया अल्हम्दुलिल्लाही अला मा अनअम उसी के वजन पर आगे आया वअल्लम मिनल बयानी मालम नअलम वअल्लम मिनल बयानी मालम नअलम ठीक है अगर ये ले आते वल्लम मालम मिनल बयान तो इसके अंदर सजा की रियायत ना होती इस वजह से मिनल बयान को मुकदम कर दिया गया अब यहाँ एक बात ये बयान फरमा रहे हैं वामा बयान मालम नालम की जो इबारत लेकर आए हैं ये असफुल खास अल आम के कबील से असफुल खास अल आम के कबील से है क्या मतलब पहले जिक्र किया ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं उसके इनाम करने पर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर इनाम की हैं उन चीज़ों पर अल्लाह की तारीफ आगे फरमाया और उसने हमें सिखलाया यानी इस चीज़ पर भी अल्लाह की तारीफ है कि उसने हमें बयान सिखलाया अपनी बात को दिल की बात को जाहिर करने का मलका दिया तो इनाम जो पहले लफ्ज़ आया है अलामा नामा उसके अंदर भी इल्म बयान वाला इनाम शामिल था इल्म बयान की सलाहियत ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है बयान की सलाहियत ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है और बयान की सलाहियत देना अपनी बात को अपने माफी ज़मीर को अदा करना ये भी तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम और नामत है है ना तो जब वहाँ कहा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है तो उसके इनाम करने पर उस चीज़ों पर जो उसने इनाम किया है तो उन इनाम के अंदर जो बयान है बयान की सलाहियत है अल्लाह की तरफ से दी हुई अल्लाह की तरफ से ये नामत जो दी हुई है वो भी शामिल भी लेकिन यहाँ इसको अलग से जिक्र किया है ये असल खास अल आम है यानी ख़ास का अस करना आम पर वहाँ नियामत सारी शामिल थी फिर एक ख़ास नियामत को अलग से कर दिया गया और वो नियामत नियामत बयान है जिसे इसको अलग से मिसाल से समझो हाफिजू अलसलावाती वसलातिल तुम नमाजों की हिफाजत करो पाबंदी करो वसलातुलस्ता और दरमियानी नमाज की खासतौर से पाबंदी करो तो ये वसलातुलस्ता दरमियानी नमाज उसके अंदर दरमियानी नमाज भी शामिल थी जब कया जब कहा गया था हाफिज सलावाद के नमाजों की पाबंदी करो तो पाँच नमाज उसमें आ गई तो भी को अलग से कह रहे हैं वाव आतिफा लाकर तो ये अतफुलखास आम फिर क्या है कि क्या अतफुलखास आम है यानी खास का अर्थ क्या है आम पर वहाँ पाँचों नमाज शामिल थी उस तलावात के अंदर और यहाँ पर उस तलातुलस्ता लाकर इसको अलग कर दिया इसकी अहमियत को अलग से बदलाने के लिए इसी तरह यहाँ पर अर्थ क्या है अल्लामा का पीछे वाली इबारत पर राय समझ में नींद आ रही है आई मिनल बयान मालम नालम कहते हैं और अल्लामा मिन खास खास के कबीर से है रियायतन लिबरातिल बराद इस्तेलाल की रियायत के लिए ये जो बयान को अलग से जिक्र किया है यहाँ पर जो बयान का लफ्ज लेकर आए हैं इसमें बराद इस्तेलाल है किस तरह मैंने कल किसी हिस्सा में बताया Yeah. बरात इस्तेलाल किसको कहते हैं मुकदमे में खुदे में ऐसी चीज़ों का जिक्र कर देना जिससे मखसूस की तरफ से इशारा हो जाए उसको कहते हैं तो यहाँ पर बयान चूंकि आगे इसमें बयान आएगा इस वजह से इसको बरात इस्तेलाल की मुनाफी जिक्र तो कर दिया और इसी को उसने जिक्र कर दिया मानी को और बजे को भी बयान का इतलाफ तीनों पर भी होता है इल्म बयान पर भी इल्म मानी पर भी और इल्म मदिया पर भी तो इसलिए जब बयान को जिक्र कर दिया तो इसमें वो दोनों भी शामिल हो जाएंगे व आला अला फजीलती नियामतिल बयानी और बयान की नियामत की फजीलत पर तब्दील करने के लिए कि जो बयान वाली नमत तुमको दी गई है ये बहुत ही ज़्यादा अजीम है इस पर मुतनब करने के लिए इसको अलग से जिक्र किया गया है वरना अलामा नामा के अंदर ये वाली नमत भी शामिल थी मिनल बयान अब कहते हैं मिनल बयान बयानकौली मालम नालम मिनल बयान मुसनफ़ के कौल मालम नालम का बयान है ठीक है माँ मुबैन और मिन बयानिया अलबयान और है कदमा रियायत लिस्तरी या खुदमा रियायत लिस्तरी को मुकदम किया गया मुसनफ़ ने मुकदम किया रियायत लिस्तरी सजा की रियायत की खातिर सजा की रियायत के लिए और मेरा ये बताना अलहमदिल्ला अलामा अनाम وعلم من البيان ما لم نعلم الحمد لله على ما انعم ساکن کہاں گیا میم پر انعامہ ہونا چاہیے حضور اسلم بجائے گا ہاں अरे मैं तो अब बयान की तारीफ करते हैं वल बयान वलमनफ़ीर बयान वो फसीह फसीह गुफ्तु है फसीह कलाम है वो फसीह कलाम है अलमरिक ज़मीर जो माफी ज़मीर को ज़ाहिर करने वाला बयान वो फसीह कलाम है जो माफि ज़मीर को क्या करने वाला हो अलमरब ज़ाहिर करने वाला माफी ज़मीर किसको कहते हैं वो बात जो अरे दिल के अंदर अंदरूनी बात जो आदमी की होती है उस बात को जाहिर करने वाला चलिए जनाब मौलाना सही है वसलातु अला सय्यदिना मुहम्मदिन खैरी मन नतका बिस्सवाबी व अफ गली मन ऊतियल हिकमता देखते रहिए कहीं पे मिन पिन पड़े और दरूद नाजिल हो हमारे सरदार रहमत कामिला नाजिल हो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैरी मन नतफ़ा बिस्तवाल जो उन लोगों में सबसे बेहतर हैं जिन्होंने दुरुस्त बात कही वह अफजली मन कूतियल हमता और उनमें सबसे अफजल हैं जिन्हें हिकमत दी गई दुरुस्त बात कहने वाले कौन लोग होते हैं है? दुरुस्त बात कहने वाले कौन लोग होते हैं जिनकी बात दुरुस्ती होती है अम्बियालीसलाम और हमत यानी शरियात जिनको दी जाती है वो कौन है अम्बियालीसलाम तो अम्बिया में जो सबसे बेहतर है दुरुस्त बात कहने वाले और उनको और जिन्हें हमत दी गई यानी सलाम में जो अफजल है उन पर दरुद सलाम नासिल हो उन पर दरुद रहमत काफिला नासिल हो अब फरमाते हैं हमत किसको कहते हैं शराय वो शराय का इल्म है शरियातों का इल्म है एक माना और दूसरा माना है वकुल्लु कलामिन वाफकल हक्का हर वो कलाम जो हक के मुआफ़ हो हर वो कलाम जो हक के मुआफ़ हो इसमें दो बातें हैं एक तो देखो इल्म शराय शरीयत का इल्म अम्बियालाम को दिया जाता है और इसके अलावा उन बातों में वो दुरुस्त बात कहने वाले हैं जो उन्हें दी गई हैं शरीयत के अलावा बातें भी वो दुरुस्त कहते हैं मिसाल के तौर पर कुल्लू कलाम वाफ़ल हक हर वो कलाम जो हक के मुआफ़ हो हमने कहा कि जोधपुर राजस्थान में है ठीक है बात हक के मुआफ़ है लेकिन के शरियात में से भी है नहीं है तो इसलिए इन्होंने इन दोनों बातों को जिक्र कर दिया ताकि सारी की सारी बातें शामिल हो जाएं जो बात भी नबी ने कही है वो क्या है बिल्कुल ठीक है वतूली का फ़ायरताई और ईता के फाइल को छोड़ दिया गया क्या बता रखा साहिल अलीताई मुसन्फ ने ईता के फाइल को छोड़ दिया ईता कहा है ईता सलमान है ईता हाँ, अब ध्यान दिया ना तूने जानते तो, तो सब कुछ है ध्यान देते थे भी तो कुछ बोलने पड़े क्यों छोड़ दिया फाइल بأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله इसलिए कि ये फ़ैल अल्लाह के लिए सलाहियत रखता है अरे अल्लाह ताला ही है जो हमत देता है उसके अलावा कोई नहीं दे सकता तो जब ये मुतन ही है तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल के लाने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए यहाँ पर सीगे मजहूल लाया गया ठीक अरे समझ आ गई फसल खिताब और फसल खिताब दिया फसल खिताब अलखिताबुलफासिलु फसल करने वाला खिताब फैसला करने वाला खिताब या मफूल का हो अलखिताबुलमफसूल मुफसल खिताब वाज खिताब वाज कलाम उसी की तफसील करते हैं वाज किताब और वाज कलाम किसको कहते हैं उसको कहते हैं कि जब मुखातब के साथ वो बात कही जाए तो ये तो साफ सुथरा कलाम कहा जाए कि जिसको मुखातब समझ जाए अई अल अलबैनदी मन भी यानी वो मुफसल वाज खिताब अल्लदी यतबैन जिसको वो शख्स समझ जाए अल्लदी यतबैन मन जिसको वो शख्स समझ जाए युखातब भी जिसको खिताब किया जाए किसी के जिसके सामने बात पेश की जाए तो वो उसको समझ जाए तो क्या कहते हैं फसल खिताब कहते हैं और वलायल तबिस आलही और वो उस पर मुलतबिस ना हो उस पर मुशतबा ना हो यानी वो उसके बारे में शक में ना पड़े और उस पर है वो कलाम जर्रा बराबर भी क्या ना हो मुबहम ना वाज हो जाए इसको कहते हैं फसल किताब तो ये किसको दिया गया हम आलिम को दिया गया और आप को खास तौर पर एक अबिल खिताब फासिल बैन अलहक़ वलबातिल या क्या कहो अलखिताब फासिल क्या मतलब बैन अलहक़ वलबातिल कि वो फैसला हक और बादल के दरमियान फैसला करने वाला खिताब फसल खिताब से क्या मुराद है हक और बादल के दरमियान फैसला करने वाला खिताब और दूसरा एहतमाल पहले आ गया वो वाज कलाम को मुखातब समझ जाए <coughs> वाला आलिही देखो मैंने इसमें तलखीस में बदला दिया था इसको कि फसल खिताब यहाँ पर तो असल क्या बनाएंगे अल खिताबुल फासिलू फैसला करने वाला खिताब पानी चाहिए क्या पानी दे पानी पानी अरे पानी दे दे हाँ तो फैसला करने वाला खिताब क्योंकि यहाँ पर फसल गिलास ले लो गिलास ले ले थोड़ी सी ले ले थोड़ी मूंगफली ले ले पानी ले ले ये बादाम बादाम है इसको बिहार वाले कहते हैं मूंगफली को बादाम कल कह बादाम खा लो मेरा काय बादाम नहीं दे रहे वाला आली और आपकी आल पर रहमत कामिला नाजिल हो ठीक है असलहू उहाइल अला की असल क्या है अहल अला की असल अहल है हाँ अला की असल उहेल है अरे आल की असल उहेल है ध्यान से है आल की असल उहेल आल की असल आहलुन है किस तरह पता चला बेदलीली ओहिल ओहिल की दलील से इसलिए कि किसी भी लफ्ज की जब तस्वीर निकालते हैं तो उसमें असली बुरु जाहिर हो जाते हैं ठीक है जब उहेल आया तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर हाँ हाँ तो इसके अंदर तब्दीली कर ली गई उसको इल्म के अंदर तुम तो पढ़ चुके होंगे देखो आहलुस हा को अफजा से बदला क्या हुआ अहलुस और फिर आमाना के कायदे से अमाना के अंदर क्या हुआ है हमजा को हाल हो गया दूसरा इस्तेमाल हो फिल अशराफ खबरी इसका इस्तेमाल ख़ास किया गया है इसका इस्तेमाल ख़ास से कायम है अशराफ शरीफ लोगों में और मुआज़ लोगों में अजीम मरतबे वाले लोगों में अब ये शराफत चाहे दुनियावी हो या शराफत उखरवी हो इसीलिए आले मोहम्मद आल दाऊद भी कहा जाएगा और आले फिरौन भी कहा जाएगा हाँ आला दाऊद शुक्रा और आल फिर ये भी कहा जाते हैं चूंकि वो भी दुनिया के एतबार से अजीम शान है ना देखो तो आला आली ही उसी की अल अतहारी ऊपर से ताल्लुक और आपकी पाक आल पर अतहार के बारे में इसकी तहकीक बतलाते हैं जम ताहिरिन ये ताहिर की जमा है कसाहिबिन व असहाबिन जैसा कि साहिब और असहाब का मसला है यानी साहिब किसकी जमा है अब की जमा है इसी तरह अतहार जमा है किसकी साहिब अरे जिस तरह अब साहिब की जमा है इसी तरह अतहार साहिब की जमा है वह सही पे है वसहाबतील अखियारी और आपके नेक सहाबा का फिर जो क्या हो नेक हो मुतदयन दीनदार सहाबा ये फरमाते हैं जम खजीरिन ये खैरुन की जमा है यानी खैरुन की नहीं खैरुन की इसीलिए कहा विद तशदीद तशदीद के साथ ये ध्यान से देख लो विद तशदीद का मतलब क्या है उन्होंने कहेगा जब वो खैरन खैरन की जमा है विद तशदीद तशदीद के साथ यानी खैरन पर जो है रुजा पे तशदीद आएगी ठीक है ये खैरन तशदीद कहने का इनका मकसद ये है कि खैरुन की जमा है खैरुन की जमा